और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने देखा नहीं कि यकीनन आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उन दोनों को फाड़ कर जुदा किया और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया तो क्या वो ईमान नहीं लाते